वृंदावन बिहारी राम की जय ओम नमो भगवते पुराण पुष्पमाय ओम जय पराशर सिंह सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्ते मम जगत विश्वधर्म विसर्गादित्य नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो मङ्गलाति तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्दे हम श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं सजीवम् सात्विकम सामूहिकम अरंजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री राधा कृष्ण बालान सागर लता श्री शाखान्विता आयाम आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलाय ताक्षो काक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वन्दे करुणा अवतारो नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं प्रपूजयन्ति रये उच्चो पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बराशि हे जनैक दयालु हे भक्ति सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुकुलंद मते दयानुदरा गुरु शिवनावन हरिलाल की श्री चैतन्य चरतान श्री सनातन शिक्षा श्रीमद महाप्रभु भक्ति के चौसठ अंगों का निरूपण उनमें पांच अंग मुख्य हैं और ये स्थापित कर रहे हैं तो भक्ति वैधि भक्ति के जो अंग है उनमें अधिकांश अंग रागानुका भक्ति के भी है रागानुका भक्ति अलग नहीं है केवल इतना संतर है कि जो वैधि भक्ति है वह शास्त्र की आज्ञा से प्रवृत्त है और उसमें श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का भी पूरी तरह से अनुसंधान बना रहता है तो एक बार ऐश्वर्य को संदेश दिया फिर ऐश्वर्य कहीं छूट जाता है और व्यक्ति के साथ में जो संबंध है उस संबंध की और संबंध सेवा की प्रधानता हो जाए अन्यथा अंग वे ही हैं जो कि वैदिक भक्ति के अंग है कुछ अंगों को भले त्याग कर दिया जाए एक आकर है जैसे अन्यन्यास करन्यास इत्यादि उनको रागन का भक्ति में ग्रहण भी किया जाएगा तो बाता की सभी अंगों को ग्रहण किया जाए यहाँ श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि रागन का भक्त को ये समझ करके रहना चाहिए कि कृष्ण कृपा परिवेन ध्रुव पर जाने कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे इस बात को दृढ़ करके माने जाने समुत्कंठा है सदा लाल सा प्रधान उत्कंठा साधक के हृदय में रखनी चाहिए सोलह की प्यार है उसमें कह रही हैं कि त्रिभुवन मध्युत देव

कि आपका जो कैशव शिशव है शिशु मन किशोर शिशु मन शिशु अवस्था नहीं है यहाँ पर सबके लिए शिशु शब्द का ही प्रयोग तो उसका शिशु माने आपका जो किशोर अवस्था है त्रिभुवन अद्भुत त्रिभुवन में अद्भुत है इति अभिहित इस बात को जान लेना चाहिए और प्रभु आप भी चपल हैं और मेरा भी चपल चापल्य है वो मेरे चापल्य को भी तब आपको मेरी चपलता को भी समझ लेना चाहिए कि मैं कोई स्थिर व्यक्ति नहीं कोई हम तो बहुत मामला है हमारा मामला बड़ा गड़बड़ है हमें बहुत चपलता है कहीं स्थिरता है नहीं इस बात को भी आप समझ लो इसलिए कभी तो हम आपसे भक्ति करते हैं और कभी एक पर में हमारा चित्त उचल जाता अच्छा है ऐसी दशा है तो हम तो अनाचांत भी है कहीं एक जगह स्थिर है आपका कैशोर त्रिभुवन में अद्भुत है और मत चापलम चित्त तब वाह और मेरा जो चपलता है इस चपलता को आप भी समझ लो और हम दोनों एक दूसरे को इस तरह समझ ले तो ठीक रहेगा आगे थोड़ा व्यवहार बना रहेगा नहीं तो तुम तो हम एक मिनट पर पूछते देर नहीं लगेगी अभी सब कच्चा मामला है तो ये अभी जो आप जो अच्छी तरह से पक्का हुआ नहीं है सो मैं चावल मेरा चावल ये तमवा तुमको अधिगम्य समझना चाहिए और ममता मुझे भी ये समझना चाहिए कि आपका अभी शैशव है आपका भी किशोर अवस्था में विराजमान है तब कि करो विरलम हे प्रभु अब आप ही बताइए कि हे मुरली विलासी आप ही बताइए मुखाम मुखाम्बुजे मुझे शुक्र तो प्रार्थना मैं आपके मुख मुख को निरंतर निरंतर देख रहा हूं और निरंतर देखता रहूं मैं कहीं चंचल होकर के भाग नहीं जाऊं इसके लिए आप ही कुछ उपाय दीजिए अर्थात हम कच्चे लोग हैं और हम लोगों में बहुत जल्दी ही कहीं गलती आ जाएगी सो so, मैं चपल हूं तब किन करूंगी विघ्न मैं ऐसा क्या करूं कि बिरलम मुरली विलासी आप निरंतर निरंतर मुरली का विलास कर रहे हैं और मैं आपको देखता रहूं मुग्धम मुखाम आपके मुग्ध मुख को मैं देखता रहूं उन्हीं क्षोतों अपनी पलटे खोल करके अब आपको देखता रहूं तीक्ष्ण इन आंखों से मैं आपको देखता हूं ऐसे आप करवाता हूं नाम नाम में साधक को सदा रुचि रखनी चाहिए प्रेम जब होता है तो नाम नाम में उसकी रुचि हो जाती है जैसे कहा गया कि रोदन बिंदु मकरंद गोविंद तब मधुर स्वर कंठी गायक नामावली बाला कि हे गोविंद ये बाला अर्थात श्री राधिका रोदन बिंदु मकरंद स्यंदी नयन के आंसू रूपी मकरंद को निरंतर निरंतर स्यंदी मन का तपका रहे तपाल निश्चय इसकी आंखों से रोगन की बिंदु के मकरंद का निरंतर बिंदु निश्चल निश्चंदन हो रहा है भूत टपक रहे है तो आंखों के जो आंसू है वो ही है जैसे मकर और वो निरंतर टपक रहे हैं जब इंद्री वाला इस बाला के नेत्र रूपी हिंदी इंद्रिवर वे आंसू की बूथ को तपका रहे ये गोविंद तब मधुर स्वर कंठी गाय और ये मधुर स्वर में आपके कंठ को आपके नाम को रही है अर्थात आपका नाम लेते हुए जो जो भाव आते हैं उस श्रुति को विशेष रूप से बल देकर के एक ही काम को अनेक बार गाती है परंतु तो जब भी गाती है तो कभी उसने उत्कंठा कभी उसने चिंता कभी उसने संसार के प्रति निर्वेद कभी उसने धैर्य कभी विश्वास विभिन्न प्रकार के जो भाव है वो विभिन्न प्रकार के भाव उसके एक ही नाम के गायन में प्रकट होते हैं और इसका जो मधुर कंठ से गाना है वो मधुर कंठ से गाना कभी हास्य के भाव को प्रकट करता है कभी शोक के भाव को प्रकट करता है कभी ग्रह को कभी विस्मय को कभी संसार के प्रति घृणा के भाव को कभी उत्साह के भाव को कभी आपके प्रति उड़ाने के भाव को ये एक ही नाम का गायन करते समय अनेक अनेक भाव इस बाला के मुख से सामने प्रकट होते हैं कभी उदाहरण क्या हे कृष्ण मन तुम तो काले हो ये उदाहरण हो गया हे कृष्ण बड़े आकर्षक हो ये उत्साह हो गया हे कृष्ण कब मेरे ऊपर कृपा करोगे कब मेरे ऊपर आकर्षक होगे ये कहीं अभिलाषा होगी तो अनेक अनेक जो भाव है कभी क्रोध का भाव कभी उत्साह का भाव कभी विस्मय कभी हर्ष कभी परिहास सारे भाव श्रृंगार हास्य करुण वीर रौद्र भयान ये सारे जो भाव हैं ये भाव कहीं न कहीं संसार के प्रति घृणा अन्य वस्तुओं के प्रति भय इन सबके भाव अपने आप प्रकट हो रहे हैं कह रही है कृष्ण ये संसार मुझे डराने के लिए परम आनंद को प्रदान करने वाली हूँ मैं दुख में पड़ी हुई हूँ मुझे रक्षा करो कह रही है केवल कृष्ण कृष्ण यही कह रही है परंतु जब भी कह रही है तो हर एक कृष्ण में कोई नया आप वह धारण कर रही है इस प्रकार तब मधुर स्वर कंठी गायक नामावली बाला ये बाला आपके नामावली को मधुस्वर में जल निरंतर गायन कर रही है मधुस्वर में अर्थात हृदय की जो भावनाएं हैं वे भावनाएं इसकी स्वर लहरी के साथ में और आपके प्रति जो प्रेम है वो प्रेम अपने आप मधुस्वर लहरी के साथ में कहीं प्रकट हो रहा है श्री राम स्वर कहीं विश्रम कर रहे थे कहीं विश्रम कर रहे थे और कोई महामंत्र का कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा था बड़े प्रकाश से चिल्ला चिल्ला करके और बड़ा काम में सुनकर की बात लग रहा था एकदम बेसुरा गा रहा तुम तो तो लिया थोड़ा धीरे थोड़ा सा सुर का विचार करके थोड़ा सा सुर का विचार करके ऐसा इतना इतना क्यों गा रहा है बेसोना क्यों गा रहा है अरे ईश्वर तो हमारी भावनाओं को देखने वाला है वो सुनेगा उसकी स्वर थोड़ी सुनेगा वो संगीत थोड़ी सुनेगा तू बेसुरा है ईश्वर बेसुरा तो नहीं है तो इसे कहीं भगवान लीला इसका गायन करते हैं थोड़ा सा उसको तो का विचार भी रखना चाहिए ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही उसको एकदम ही उसको उपेक्षा कर दी जाए भाई हम बेसुरे हैं ठाकुर बेसुरा तो नहीं इसमें थोड़ा उसको अच्छा लगे ऐसे थोड़ा प्रदान तो चाहिए तो यहाँ पर कह रहे हैं तब मधुरा स्वर कंठी ये बाला मधुर स्वर में मधुर कंठ में आपका गायन करती हुई विराजमान हो रही है गायक नामावली बाला ये बालक बाला तुम्हारी नामावली का गायन कर रही अब कृष्ण गुणाख्यान में सर्वदा आसक्ति होनी चाहिए साधक की श्री कृष्ण स्वरूप कैसा है जैसे कृष्ण का नाम कह रहे हैं कि मधुरम मधुरम बहु अस्य विभो मधुरम मधुरम वतनम मधुरम मधुगंधि मधुस्मित मेत रहो मधुरम मधुरम मधुरम आत्मा आपका परम परम मधुर होकर के विराजमान है मधुर का तात्पर्य है सब स्थान और सब अवस्थाओं में जो चित्त को आकर्षित करे उसका नाम है मधुर सर्वदेश और काल इनमें जो आकर्षक होकर के विराजमान हो उसका नाम है मधु सो हे प्रभु हे प्यारे मधुर मधुरम भरपूर आपका श्री मधुर में भी मधुर सब देश सब काल पुण्य मधुर है कभी कोई माला टेढ़ी हो रही है तभी वो सुंदर लगे और सीधी जमा करके पहनने की है पर भी अच्छी लगे कुंडल जमा करके कान में धारण कर रखी है तब भी और एक टेढ़ा हो रहा है उल्टा हो रहा है तभी भी तो हर काम में और हर अवस्था में जो सुंदर लगे मधुर मधुर मधुर मधुर से भी मधुर प्रत्येक वस्तु उस आपको प्राप्त करके धन्य हो रही है आपका शरीर वह सुंदर कुंडलों का सुंदर आभूषणों का भी आभूषण होकर के विराजमान है भूषण भूषण अंगन होकर के विराजमान तो मधुरम मधुरम इनका जो मधुर अंग है वो अत्यंत अत्यंत मधुर मधुर है मधुरम मधुरम वदनम मधुरम इनके वचन मधुरम मधुरम मधुर में भी मधुर है अर्थात उनके भाव बड़े सुंदर है वचनों में फिर भाव के साथ में विचार बड़े सुंदर फिर विचार के साथ में उन विचारों को प्रस्तुत करने के लिए जिस बिंब को चुना है इमेज वो बिंब भी बड़े सुंदर फिर बिंबों को प्रस्तुत करने के लिए जिस शब्दावली को चुना है वो शब्दावली बड़ी सुंदर शब्दावली के द्वारा जो वाक्य बनाए गए वो वाक्य बड़े सुंदर फिर उन वाक्यों को जिस छंद में रखा गया वो छंद बड़ा सुंदर फिर उस छंद को जिस तरंगों में गाया गया वो तरंगों स्वर बड़ा सुंदर और उस तरंगों में जो राग सामने प्रकट हो रहा है वह और भी सुंदर तो जो भाव भाव के साथ में बिंब बिंब के साथ में विचार विचार के साथ में उनका प्रस्तुतिकरण उनकी भाषा उनके शब्द उनके वाक्य उनका गायन उनका मूल स्वर सब अत्यंत अत्यंत सुंदर है तो मधुर मधुरम बदनाम तो आपका मुख मधुर से मधुर होकर के विराजमान है मधुगंध मधुस्मृत आहा आपकी मंद मुस्कान मधुगंधी गंधी कहते भोरा भोरों को आकर्षित कर लेने वाली अर्थात हमारे नेत्र भ्रमणों को आकर्षित करने वाली आपकी मंद मुस्कान है मधुगंधी जो मधुआ में भोरे हैं उसके समान आपकी मृदु स्मृत है स्वाद में भी सुंदर और पोषकता में भी सुंदर तो स्मृत कहकर के उसकी उसमें जो गंध आती है वो गंध बड़ी सुंदर उसका रूप आधार का वो बड़ा सुंदर उसका स्वाद वो भी बड़ा सुंदर और वो पोषण करने वाला हमारे हृदय के भाव को पोषण करके भी वो विराजमान है मधुगंध है मृदु स्मृत तो पहले संपूर्ण शिव की शोभा का वर्णन किया कृष्ण की शोभा का वर्णन करते करते मुख की शोभा पर आकर करके अच्छे तो मुख की शोभा में नहीं अधर की शोभा पर आकर के तो मधुगंध मधुस्मृत मिट रहा हो आपकी मन मुस्कान बड़ी सुंदर तो अधरम मधुर मधुर बापू पहले तो श्रीअंग और मधुर फिर इसके बाद में बदन श्री मुख और भी ज्यादा मधुर श्री गुरुदेवी मुस्कान और भी ज्यादा मधुर आहा मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम ये जगत के जितने भी मधुर वस्तु हैं उन सारी मधुर वस्तुओं में सबसे बड़ी मधुर वस्तु कौन सी होगी वो होगा ब्रह्म उससे बढ़कर के कोई जागृत वस्तुओं की तुलना में सर्वोत्तम वस्तु हुई मोक्ष का आनंद ब्रह्म स्वस्वरूप का आनंद उस ध्रुव के स्वरूप के आनंद की अपेक्षा भी और भी अधिक मधुर कौन सा होता बोल श्री नारायण भगवान नारायण का माधुर नारायण की माधुर से भी और अधिक सुंदर कौन सा होगा बोले नाराकृत स्वरूप में उनका जो अवतार है श्री राम कृष्ण परशुराम आदि जो स्वरूप है न स्वरूप उन स्वरूपों में उन नारायण का माधुर्य द्विजु मैंने और दी और उनने भी सर्वोत्तम माधुर्य कहा है तो सर्वोत्तम माधुर्य श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है द्वारकेश कृष्ण की भी अपेक्षा मथुरेश कृष्ण की भी अपेक्षा श्री ब्रजेश ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कुंद जैसा माधुर्य है वो कहीं दूसरे नहीं तो मधुर उसमें भी मधुर श्री कृष्ण स्वरूप में भी कृष्ण सर्वोत्तम रूप में जहां विराजमान है वो है निकुंज मंदिर मथुरा और उस निकुंज मंदिर में भी जहां प्रिया के अधीन होकर के विराजमान है वो स्वरूप और भी ज्यादा मधुर सो मधुर का भी साप का भी साप का भी साप का भी साप चारा साप लगाना पड़ेगा तो सबसे ज्यादा मधुर होगा ब्रह्म ब्रह्म के बाद में मधुर हुआ भागवत सोम भागवत सोम के बाद में मधुर हुआ नराकृत लीला नराकृत लीला में भी सबसे ज्यादा मधुर होगा श्री निकुंज मंदिर में श्री राधा कांत होकर के यहाँ आप विराजमान है वो आपका स्वरूप श्री रसिक जो स्वरूप है अंकुर नायक धीर ललित नायक होकर जो विराजमान है वो स्वरूप ही सबसे ज्यादा मधुर है तो श्री कविराज गोस्वामी जहाँ सारंग रंग टीका में शिष्यों की व्याख्या कर रहे हैं वहां पर मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम ये माधुर्य को चार श्रेणियों में वर्णन कर रहे हैं एक जागतिक आनंद फिर ब्रह्मानंद फिर भगवत आनंद फिर उसमें भी कृष्णानंद और उसमें भी धीर ललित नायक का तो, तो मधुरम मधुरम बहु पहले तो का कौन सा अंग ऐसा है जिसमें मधुरता नहीं हो प्रत्येक श्रीअंग के एक में जो सुंदरता का पूर्ण आधान हो सकता है वो पूर्ण आधान वहां पर विराजमान है स्वर्णियांग होकर के श्री कृष्ण विराजमान है तो मधुर से भी मधुर श्रीअंग जो संपूर्णता सौंदर्य की कहीं प्राप्त नहीं है किसी का एक काम ऊंचा है किसी के ठीक नहीं है किसी का हाथ ठीक नहीं है किसी के नख ठीक नहीं है कहीं पूर्ण सुंदरता को तो प्राप्त है ही नहीं सर्वांग सुंदरता को तो प्राप्त है ही नहीं परंतु आपने सर्वांग सुंदरता तो वो भी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सुंदरता प्राप्त है तो मधुर से भी मधुर आपका अंग हो गया अंग में मोहन उसमें भावों को प्रकट करने की जैसी सामर्थ्य है वैसी सामर्थ्य और किसी दूसरे में नहीं है श्री अंग में जीवन की गति को प्रकट करने की सामर्थ्य होती है हस्तों में हाथों में कहीं संवाद की कुशलता प्रकट होती है परंतु मुख में भाव को प्रकट करने की प्रधानता प्राप्त होती है इसीलिए नृत्य में जो पदक नृत्य है उसकी अपेक्षा हस्तक जो भंगिमा है वे सम्मान को प्रस्तुत करती है चरण चरणों के द्वारा नृत्य में जीवन की एक लयता एक लक्ष्यबद्धता प्रकट होती है लक्ष्यबद्धता नहीं टूटनी चाहिए यदि ताल चूक गया तो कितना भी सुंदर से सुंदर नृत्य है उसकी सारी ब्यूटी खत्म यदि नृत्य करने वाला नर्तक ताल चुक जाए एक मात्रा आगे हो जाए कि पीछे हो जाए तो उसकी सारी नृत्य की कुशलता समाप्त हो जाएगी तो जीवन के लक्ष्य वह प्रकट होता है पदक के द्वारा जो संभाव है उनको प्रस्तुत किया जाता है हाथों की भंगिमाओं के द्वारा और ये हाथ बड़े महत्वपूर्ण है जहां कोई शब्द नहीं मिलता है वहां पर वक्ता के हाथ नाचते रहते हैं और उन हाथों के माध्यम से अपनी बात को कहने लगता है जो हाथ ज्यादा चलाना है समझ लेना चाहिए इसके बाद में कहीं डिक्शनरी की कमी है की कमी है तो उसको कहीं हाथ के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कर रहा है और हाथ जहां संवाद को व्यक्त करते हैं वहां जो मुक्ति भंगिमा है वो मुक्ति भंगिमा भाव को भी अभिव्यक्त करने में प्रकट होती है तो नृतक हस्तक और परक ये नृत्य के तीन भेद और इन नृत्य के तीन भेद के द्वारा ही अभिव्यक्ति पूर्ण तरह से सामने प्रकट होती है तो श्री कृष्ण का श्रीअंग सबसे बड़ा धर्म उसने भी मुखमंडल और भी माधव और उस मुखमंडल में भी अधरों की जो मुस्कान है वह हृदय के भाव को परिपूर्ण रूप से प्रकट कर रही है तो मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम संसार के जितने भी माधुर्य उनकी अपेक्षा ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद की अपेक्षा भगवदानंद और भगवदानंद जी की अपेक्षा जो धीर ललित नाटक रूप में जो श्री कृष्ण विराजमान है विश्वास सबसे अधिक मधुर होकर के विराजमान है तो जब कोई वर्णन लेके आ सकता है तो मधुर भी मधुर भी मधुर भी मधुर रूप में वे श्री कृष्ण विराजमान है और प्लीज श्लोक है कि श्री महाप्रभु कई बार इस श्लोक करते हैं विशेष रूप से मधुर मधुर मधुर मधुर और इसी को आश्रय बना करके ने मधुराष्ट्र उनको भी प्रकट किया मूल जो श्लोक है वो श्लोक श्री बिलमंडल और उनके कर्ण कृष्ण का नाम उसका ही आधार बना करके ब्रह्मचराष्ट्र कितना पढ़ेंगे कृष्ण लीला स्थान करे सर्वदा बसते साधक का एक कर्तव्य है कि वह कृष्ण लीला स्थान में निरंतर निवास करे और उसके लिए भक्त स्वामी सिंधु ने कहा गया कदा हम यमुना तीरे नामानितम कीर्तन बाष्प पुनरीकाक्ष रचिश्याम तांडवम कि गोविंद कब मथुरा के किनारे यमुना के किनारे में रोते हुए नृत्य करते हुए चल रहा वो श्री वृंदावन के यमुना के किनारे चलना बाल्यकाल में क्या सुंदर श्री वृंदावन की परिक्रमा का आनंद था अब तो आप पांच कदम नहीं चल सकते आंख बंद कर दिया और कहते आनंद पूरा लीला का चिंतन करते हुए जा रहे आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पता ही नहीं अब तो ओ ओ ओ ओ बीच में पीछे से आ गया मुश्किल है कहीं चलना तो धक्का धक्का खाते हुए चलो कहते आने से बाली आ गया जो शिवलाल का परिक्रमा के स्वरूप श्री यमुना जी का पूरी परिक्रमा जैसे लीला चिंतन और जब के साथ में परिक्रमा आनंद पूर्वक जैसे संपादित होती थी तो एक अलग सुख था तो धीरे धीरे कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ आने पर तो सारा सुख समाप्त हो गया और ऐसा लगता है जैसे भी के हम परदेसी होते हो गए चलो जैसे हमारे तो है तो हमारे तो ये इसके कृष्ण लीला स्थाने खड़े सर्वदा बसती श्री कृष्ण लीला के स्थान पर निरंतर स्थान का है कृष्ण रतिर चिन्ह एक कई विवरण इस प्रकार ये हमने भाव भक्ति के लक्षण रूपण की शांति अभ्यस्त कालत्व विरक्ति मानशून्यता ఆశావంత సముద్రంగా నామకాన్ని సదావుచి ఆసక్తిస్పద गुणाख्याने प्रीतिस्पद वस्तुस्पद इत्यादि उन भावास्त्री ये तो इन भावों का यहाँ पर विवेचन किया ये जो भाव भक्ति के अनुभाव दिखाए उनका वर्णन किया है चित्ते कृष्ण प्रेमा और उदर तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ नाम बुद्धि है अब जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय हो जाता है उसकी बात की क्रिया मुद्रा ये भी विद्वान जनों को भी समझ में नहीं आती है जो अधिकारी है वो तो समझ लेता है परंतु कौन किस रस में डूबा हुआ है उसको विद्वान जन भी नहीं समझ पाते क्या कहना चाहते तो रसों की जो भाषा है वो रसों की भाषा कुछ अद्भुत होती है तो वे कुछ शब्द से कुछ संकेत से कुछ इशारे से कुछ शब्द से कुछ हाथों के इशारे से और कुछ कुछ मुख्य भंगना मात्र से अद्भुत होकर के विराजमान कि किस प्रसंग में कौन सी लीला कब क्या कह रहे हैं ये समझ में नहीं आती और वे अनेक अनेक बार जो संवाद की भाषा है उसको बोलने लगते हैं एक संकेत करना चाहेंगे श्री स्वामी हरदास जी की केंद्र मार्ग वह सर्वदा समाज की भाषा में कहेंगे वहां पर सभी पद लगभग सभी पद एक भगवान जैसे वर्णन कही गई है वहां पर संवाद भी और संवाद के माध्यम से भाव जो अष्टादश सिद्धांत के पद हैं श्री स्वामी जी के पुण्य को कहीं वर्णन है उद्देश्य परंतु जो केन्द्र के पद हैं उन केन्द्र के पदों में कहीं भी वर्णन नहीं है वहां पर संवाद के माध्यम से सारी बात चौकी कहा बदल पाई अब सखी किशोरी जी से कह रही है कि तुम्हारी चौकी कहा बदल गई और शुक्रिया जी एकदम चौक के हो ले हो करके होगी मेरी चौकी शांति के साथ में बदल गई है मैं ला कर करूंगी तो जितना भी वर्णन है वो सब संवाद करते तो सखी कुछ कह रही है उसके उत्तर में कह रही है फिर उत्तर में ही कहीं संवाद में ही सारी सारी बातें वहां प्रकट हो गई तो ये रस की एक अद्भुत रीति है कि वहां पर कुछ कहा जाता है कुछ वर्णन किया जाता है कुछ संकेत से कहा जाता है कुछ मुख्य की से रेखाओं के माध्यम से कुछ बात कहनी चाहिए और इसको बुद्धिमान जन भी नहीं समझ पाते हैं भक्त स्वामी सिंधु में किसी का निरूपण कर रहे हैं कि धनस के आयम नव प्रेमा यस्यो नीरत चेत चेतसी आह वो व्यक्ति धन्य है धन्य किसी धन्य व्यक्ति के लिए के हृदय में ही किसी धन्य व्यक्ति के हृदय में ही अयम नव प्रेम ये जो नव प्रेम है नित्य नूतन नूतन होने वाला प्रेम यसी उन्नीत चेतसी जिसके हृदय में यह प्रेम उदय हो जाता है अर्थात साधन भक्ति भाव भक्ति बनी भाव भक्ति जिसके हृदय में प्रेमा भक्ति के रूप में परिणत हो गई अंतरवाणी भी अंतरवाणी का तात्पर्य है शास्त्र के तत्व को जानने वाले वे लोग भी मुद्रा सृष्टि दुर्गम उन लोगों के हृदय में भी उस व्यक्ति की जो मुद्रा है उस व्यक्ति का जो भाव है वह भाव दुर्गम तो पढ़े के समझदार शास्त्रीय ज्ञान वाले व्यक्ति भी किसी रसिक की बात को नहीं समझ सकते क्योंकि वो आधा बोलेगा आधा इशारे से कहेगा आधा उसके मुख में भी रह जाएगा उसको प्रकट नहीं कर पाएगा तो जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है उसकी मुद्रा को उसकी भावना भंगिमाओं को वाणी ही अभी जो वाणी वाले हैं उनको भी पता नहीं लगता है किस भाव में डूब रहे हैं वो दूसरा नहीं जा सकता है नहीं जा सकता तो वो तो कहीं एक तुक में एक रस में ही कहीं डूब रहा है इसी को आगे कह रहे हैं कि एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तिया ज्यादा मरारो दुचित्तो चली हसत्य तो रोगते रौति गायकी उन्मादवत नृत्य लोक पाएंगे एवं व्रता जिसने श्री कृष्ण को ही अपना लिया है एवं है कृष्ण का वर्णन जिसने कर लिया है स्वप्रिय नाम कीर्त्या वह निरंतर निरंतर स्वप्रिय नाम इनका कीर्तन करेगा अर्थात वास्तव का उपासक है तो नंद नंदन मंथनी दामोदर यशोदा नंदन बाल मुकुंद माखन चोर नवनी तकरीर इत्यादि जो नाम है उनका उच्चारण करता है स्वप्री यदि सच्चे रस का उपासक है तो वो गायन करता रहेगा श्री रामा प्रिय मधुमंगल प्रिय भांडीर क्रीडावत आदि आदि जो सखी प्रीति के नाम है उनका उच्चारण करता है जो दास भक्ति का उपासक है वो ब्रजराज कुमार श्री यशोदा नंदन ब्रज प्राणधन ऐसे स्तुति परक और जो संबंध परक नाम है उन नामों का गायन करता रहेगा परंतु जो मधुभक्ति का प्यारा है वो रास बिहारी राधाकांत राधा प्रिय राधेश गोपीश इत्यादि जो नाम है राशेश्वर इत्यादि नाम उन नामों का उच्चारण करता रहेगा कभी धृष्ट चंचल इन नामों के द्वारा ठाकुर की स्तुति करेगा गाली देकर के ठाकुर की स्तुति करते हुए भी वो विराजमान होगा और उसके हृदय में कितना प्रेम है ऊपर से सच कह रहा है और भीतर कितना प्रेम है इस प्रेम को बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जान सकेगा इसको रसिक जाने तो रसिक बुद्धिमान होना पंडित होना एक अलग बात है और रसिक होना अलग बात है रसिक जन इसको जान तो एवं नाम जिसने ठाकुर को ही वर्ण कर लिया है ऐसा जो भक्त है वो निज निज भावना के अनुसार विशेष जो नाम है उनको ग्रहण करेगा और नाम का ही कीर्तन करेगा नाम का कीर्तन करने पर जापान जो राग उस नाम कीर्तन में उन लीला के चिंतन में उसे कभी भी उन्मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी अनुराग का तात्पर्य है निरंतर उपभोग करने पर भी उस रस को वो सदा प्राप्त करेगा नृत्य नूतनता की अनुभूति करेगा ज्ञाता प्रभाग जो मुझे चाहिए और केवल नाम मात्र सुनने से उसका चित्र द्रवीभूत हो जाए किसी ने कह दिया रामाकांत तो चित्र भी चित्र द्रवीभूत हो गया किसी ने कह दिया कि गिरधारी अब जो रसभक्ति का भागते न जाने शब्द से कौन कौन से पर्वत कोई दिव्य उसके दिमाग में आ जाएंगे जिनको श्री शास्त्र मंदिर पर धारण करते हुए तो ये पांडित्य की बात नहीं है ये रसिकता की बात जहां पर जितनी रसिकता होगी वहां पर वही भाव निरंतर निरंतर सागर उत्पन्न होते हुए चले जाए तो युद्ध से भक्ति की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सकल निबद्धता की आवश्यकता नहीं है कोई कभी सम्यक प्रकार से व्यवहार भाव संचारी भाव सामग्री का निरूपण करे इसकी आवश्यकता नहीं है किसी ने केवल राधाकांत कहा रास कहा तो रास कहने पर संपूर्ण जो रास की संपत्ति है रास की सामग्री वो उसके हृदय में आ जाएगी पूरी लीला उसके सामने आ जाएगी तो सारे व्यवहार सारे उद्दीपन व्यवहार सारे संचारी सारे अनुभव अनेक अनेक मोक्ष संभोग पावन संभोग सारे के सारे केवल रासधारी इतना नाम कहने पर राधा नाथ इतना नाम कहने पर सारा महान सारा अनुकूल नायक प्रसंग सारा स्वाधीन भक्त का श्री का जो स्वरूप परम परम सुंदर अभिषाक का आदि जितने भी नायिकाओं के हैं ये सब उसके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे केवल राधा का विचार कि कहां पर प्रिया जी अभिषाक कर रही है कहां पर वे खंडिता होकर के विराजमान है कहां पर वे वास्तव सज्जा होकर के विराजमान है कहां उत्काय होकर के विराजमान है कहाँ मानवी होकर के विराजमान है कहाँ वे अभिमानी होकर के विराजमान है गर्वी होकर के कहा शांत उनके अनुकूल नायक होकर विराजमान केवल नाम मात्र से ये सारी बातें उसके हृदय में अपने आप स्फूर्त हो जाएंगे और रोमांचित हो जाएंगे उसके रोमांचित हो जाएंगे उनके सारे चिन्ह भी उसमें प्रकट हो जाएंगे तो दुख चित्र जैसे किसी कार्य में कवि की कुशलता होने पर जब संश्लिष्ट वर्णन प्राप्त होता है तो संश्लिष्ट वर्णन से चित्त की कठोरता समाप्त होकर के चित्र ध्रुवीभूत होता है और ध्रुवीभूत होने पर स्वगत रसप्रभाव इस आवरण को प्राप्त करके तब वह रस का आस्वादन प्राप्त करता है वो सारी बातें एक रसिक को केवल कृष्ण नाम मात्र कृष्ण इतना सा सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाए तो द्रुत चित्र चित्र कितना द्रवीभूत हो रहा है और तो ये द्रवीभूत होता है तब जब पहले साधन किया जाए बैठ करके लटका के बिल्कुल से जोर शोर से भजन किया जाए तब जाकर के चित्त द्रवीभूत तो लगा के भजन करें उलझ नहीं उसकी आगे भागे किया तो भागे को नहीं उसमें जिसमें लग उसमें लग इस तरह से जब भजन किया जाए जम करके तो व्युक्त चित्रता की क्षमता आएगी मतलब कृष्ण नाम इनका स्मरण मात्र करने से व्युचित उच्चयन उसका चित्त उच्च रूप में उच्चयन स्वप्रिय नाम की क्रिया उच्च स्वर में वो कृष्ण नाम का उच्चारण करेगा और उच्च स्वर में कृष्ण नाम का उच्चारण या तो विरह में आह के रूप में व्याकुलता के रूप में उसको होगा या विलम की शीतकार के रूप में आनंद की अनुभूति के रूप में उसे होगा तो कभी विरह के आह और कभी मिलन के शीतकार इनके रूप में उच्च स्वर से स्वप्न नाम की क्या मिलन की अनुभूति हो रही है तो आनंद में शीतकार में प्रिय प्यारे का नाम लिया जा रहा है और विराज हो रहा है तो आह प्यारे का नाम ग्रहण करते हुए विराजमान तो एवं होता है इस प्रकार जिसने श्याम सुंदर को ही वर्णन कर लिया है या श्याम सुंदर ने जिसको वर्णन कर लिया है या एवं वर्तमान जिसने भजन को का भ्रत ले लिया है तीन अर्थ हो गए एवं वृता वृता वर्णन करना वर्णन किया जाना मूल हृदय ये तीनों जितने योगी हैं वह उच्च ही स्वप्रिय नाम कीर्त्या उच्च स्वर में अपने प्यारे के नाम का कीर्तन करेगा और नाम का कीर्तन करते हुए उसमें एक एक वस्तु का बार बार आस्वादन करने पर भी नित्य नूतनता की प्राप्ति होगी तो अनुराग उत्पन्न होगा और अनुराग उत्पन्न होगा कि दुर्ध चित्र उसे पूरी कविता की जरूरत नहीं है किसी कवि की स्किल की कवि की काफी के ताकि जरूरत नहीं है केवल कृष्ण नाम इतना मात्र होने पर ही उसका चित्र द्रवीभूत हो जाएगा तो प्राकृत काव्य में और भक्ति काव्य में अंतर यही है कि भक्ति काव्य में कवि सबका निरोधता की आवश्यकता नहीं कवि की कुशलता कवि की कविता की कुशलता उसकी जरूरत नहीं है वहां पर केवल नाम मात्र लेने से धाम का दर्शन करके श्री कृष्ण के संबंधी किसी एक वस्तु मात्र का दर्शन करके उस रसे के हृदय में दुख चित्रता उत्पन्न हो जाएगी चित्र की सारी कठोरता समाप्त हो जाएगी दुख चित्र कहकर के ये दिखाया रस निष्ठा जैसे एक लाख की चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति लाख को है थोड़ी ठंडी हो जाती है तब उसको बेलन से रगड़ करके उसको गोल बनाता है और फिर उसके ऊपर यदि पिघली हुई लाख में कुछ लाख में उसने जो रंग मिला दिया वो रंग फिर उस लाश से अलग नहीं किया जा सकता चित्र जब द्रवीभूत हो गया उस समय जो रंग मिला दिया वो रंग कभी अलग नहीं हो सकता है इसी का वर्णन सृष्टि मत्सुर सरस्वती बात भक्त रसायन नामक ग्रंथ में इस जतु का उदाहरण जतु के तेल लाख जतु का उदाहरण लेकर के मत्सुर सरस्वती बात में भक्ति का स्वरूप निरूपण किया कि साधक जो है उनको गुरुदेव का अनुगत्य प्राप्त हुआ गुरुदेव ने जिस समय उसे मंत्र प्रदान किया उस मंत्र को ग्रहण करके अब लगा हुआ है भजन करने में दंडाली से वह पूरी तरह से समृद्ध करके भजन करना है वो जुट करके भजन में लगा और भजन में लगने पर उसका जो चित्र है वो विषयों से अलग हुआ स्वर तत्स्वभाव से मुक्त हुआ वो द्रवीभूत हुआ लाख पिघल गए अब लाख पिघलने के बाद में उस पिघली हुई लाख पे यदि लाल रंग मिला दिया जाएगा तो उस लाल रंग को अलग नहीं किया जा सकता है इसी प्रकार में उसके चित्र को किसी एक भाव से कृपा करके श्री राधारानी ने उसके चित्र को रंग दिया अर्थात कभी उसके हृदय में दास्य भाव आ सकता है किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में सच्चे भाव आ सकता है स्थायी भाव किसी के हृदय में भाव होता है मैं किशोर जी की दासी हूं ये भाव आ सकता है तो जो रंग एक बार आधार को मिल गया जहां मंदिर भाव आया या मृत्यु भाव आया सखा भाव या दास्य भाव आया या दास्य भाव आया जो भाव आया वो भाव तो हो गया अब स्थायी वो तो कभी जाएगा अब दूसरे जो रस हैं उन दूसरे रसों के लीला का श्रवण करने पर भी अपनी दृष्टि से उस रस को ग्रहण किया है उसी दृष्टि से रस को ग्रहण किया जाए अब पहला शुभ संस्कृत और जब रुदन करने पर भी श्री कृष्ण सामने नहीं आए तो फिर व्याकुल होकर के राम कृष्ण ऐसा कहकर के पुकारने लगा शांति पुकार दुश्मन मतलब को पुकार सुनेंगे चाहिए लोक बाह्य और उसकी लोक बाह्यता देख करके संसार की उसे परवाह नहीं है जब उसकी ये आदत बन जाती है संसार के ऊपर परवाह नहीं करता है तब संसार की कहता है बोले बाबा को घर में रखने से क्या मतलब काम भाग के करते नहीं दिन भर बस यही सब करते रहते पुकारते रहते कोई पता है नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे किंतु तो, तो जहां जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे तो संसार भी किसी तरह से उनसे अपना पीछा छोड़ाना चाहता है लोग भाई घर लोग उनको घर से बाहर निकाल देना तो देखो कहते वो तो संसार को छोड़ देना है और ये कभी हंसती कभी रो रही कभी रोती कभी जाएगी कब आएंगे कब जाएंगे इसकी कोई परवाह नहीं बाहर कहा जा रहे हैं कहा नहीं जा रहे हैं जान दो तो। जैसे घर में ऐसे बाहर कोई मतलब तो है नहीं प्रेम को तो घर के बाहर बना दो तो ठीक है संसार उनको छोड़ देता है फिर संसार उन्हें बाहर नहीं है उनको रोकने का प्रयास नहीं करता है तो संसार के मतलब के लिए आई इसके संसार उनको छोड़ देता है और फिर कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ संसार ने मुझे छोड़ दिया इसलिए भली भली वही मेरी एक छुट्टी और दस रिवेशन सो छुट्टी तो वो भी नष्ट हो गया है तो बड़ा सुंदर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इस श्लोक की वृद्धि टीका दी है वो बड़ी मधुर कि एवं घृणा इस प्रकार जब उसने श्री कृष्ण को ही स्वीकार कर लिया तो वह उच्च स्वप्न नाम की क्या उच्च स्वर में श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करता है और नाम कीर्तन करते हुए जहां रहा अनुराग में उसे प्रत्येक क्षण नए नए स्वाद की प्राप्ति होती है की प्राप्ति होती है जो चित्त उसका चित्त प्रेम की विरह की गर्मी से लाख पिघली हुई लाख के समान चुप हो जाता है और स्व भाव ये बेरा है ये पराया है ये जो कठोरता थी ये कठोरता उसकी समाप्त हो जाती है चाशनी एक हो गई मिल करके जल करके पिघल करके एक हो गई अब उसमें उसका जो स्थायी भाव है श्री राधारानी जो भाव लेना चाहती है दास सख्य भाषण मधुर इन चार भावों में से कोई एक रंग उसमें मिल गया और उस रंग के हिसाब से ही वह प्रत्येक लीला का दर्शन करेगा जो विरोधी रस है उनके बीच में कोई दूसरा रस ला करके मेरे प्यारे ऐसे जो माता पिता के इतने प्यारे सारे ब्रज के प्यारे हैं और उनके जन्म महोत्सव पर सारा ब्रज नंद महोत्सव कर रहा है धनकार कर रहा है ये सुंदर के श्री प्रिया का राधा रानी का श्याम सुंदर के जो प्रेम है वो और भी ज्यादा बढ़ गया और भी ज्यादा पुष्ट हो जाएगा सुदृचित होकर के वो विराजमान और हसते कभी प्यारे जो है उनका सामने दर्शन करके वो हंसता है जब वे छिपी आते हैं तो रोता है जब रोने करके सामने नहीं आते हैं तो पुकारता है रोती जब पुकारने पर श्री कृष्ण पुनः प्रकट हो जाते हैं तो गायत्री गाने लगता है उनकी महिमा का गायन करने लगता है और फिर उन्माद नृत्य थी उन्मत्ति की तरह से नृत्य करने लगता है संसार मुझे देख करके क्या कहेगा इसकी उसे प्रणाली रहती है और जब ऐसा व्यक्ति बार बार संसार की अवहेलना करता है तो संसार में एक दिन उसे लोकवाहिता घर के बाहर निकाल देता है तो फिर वह उन्मुक्त होकर के उसकी प्रणाली करता है और लोकवाही होकर के वह विचरण कर पाए इस प्रकार प्रेम क्रमे भाव स्नेह मान प्रलय राग अनुराग भाव महाभाव यही जो भाव भक्ति थी यही वृद्धि को प्राप्त होकर के स्नेह मान प्रलय राग अनुराग भाव महाभाव दशा को प्राप्त होती है यहाँ पर साधन भाव भक्ति का वर्णन किया अब प्रेम लक्षण भक्ति के आगे के जो स्वरूप है उनका वर्णन कर रहे हैं साधक के देह में प्रेम तक की जो अवस्था है वो आ सकती है इसके आगे के भाव के पाप को सहन करने की उसमें क्षमता नहीं है वो शुद्ध देह में प्राप्त होगा तो शुद्ध देह में स्नेह मान प्रय राग अनुराग भाव और ये तो शुद्ध देह में आएंगे सारे देह में प्रेम की प्रथम अवस्था प्रेम की परिपूर्ण अवस्था में पर प्रेम प्रेम तो का जो पार है उसको सहने की क्षमता आ जाती है तुम लाल की गुलाम हरि लाल की जय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय I go to